चतुर्थ मंत्र केन उपनिषद में यद्वाचानभ्युदित येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्व विद्धि नेदम यदिदम उपासते वाग शब्द से इंद्रिय लिया वर्ण लिया इंद्रिय और वर्ण सब शब्द अर्थ का प्रकाशक होते हैं उसी में मितम अमितम स्वर सत्यानृतव विकार यया वाचा पदत्वन परिच्छिन्नया कर्णगुणवत्या अनभिदितम अप्रकाशितम अनभिक्तम येन ब्रह्मणा विवक्षित अर्थे सकर्ण वाग अभिद्यते चैतन्य ज्योतिषा प्रकाश्यते प्रयुज्यते तेतत् मितम अमितम स्वरह मितम मित शब्द से कहा ऋग आदि ऋक ऋचा में नियत पाद में वर्ण नियत वर्ण में समाप्त होता है पादावसान नित्य अक्षर अमित होता है गद्य आत्मक यजु सर हो गया साम सत्यानृतेव विकारो यस्य सत्यानित्य कह करके सारा प्रपंच उसका विकार है टीका में दिया स्वरह साम गीति प्राधान्यात सत्यम यथा दृष्टार्थ वचनम सत्यम सत्य जो प्रसिद्ध है यथा दृष्टार्थ कथन अनृतम तद विपरीतम मिथ्या ये सब सत्य मिथ्या ही उसका विकार का अर्थ का विवर्त ब्रह्म का कोई विकार नहीं ब्रह्म निर्विकार है इसलिए विकार शब्द लोक प्रसिद्ध विकार को लेकर प्रयोग किया और अर्थ वास्तव है विवर्त क्योंकि अतात्विक अन्यथा भाव को विवर्त कहते हैं यस्तात्विक अन्यथा भाव विकार सौदिरित तात्विक अन्यथा भाव नहीं इसलिए विकार नहीं विकार शब्द प्रयोग किया जाता है इस लोक में सत्य कहते हैं रज्जु सत्य है सर्प मिथ्या है रज्जु को सत्य शब्द से लोक में कहते हैं वास्तव सत्य पारमार्थिक सत्य नहीं है इसी प्रकार कार्य को विकार शब्द से कहते हैं तो यहाँ विकार शब्द से कह दिया बहुत स्थान में विकार शब्द प्रयोग किया जाता है किंतु वास्तव में विवर्त ब्रह्म का सारा प्रपंच ब्रह्म का विवर्त है माया का परिणाम है क्योंकि समान सत्ता का कार्य है माया व्यावहारिक है प्रपंच भी व्यावहारिक है इसलिए माया का परिणाम ब्रह्म का परिणाम विकार नहीं ब्रह्म का विवर्त इसलिए टिप्पणी में दिया है विकार कहते तो विवर्त ये सब यस्या तया वाचा उसी वाणी से वाक पदत्वेन परिचनया वो वाक स्वर्ण मिल करके पद हो जाता है पदत्वेन परिच्छिन्न परिच्छिन्न का अर्थ भी सीमित हुआ विवर्तित या पदत्वेन विवर्त हुआ कर्ण गुणवत्या कर्ण है गुण जिसमें इंद्रिय है गुण गौण रूप से शब्द तो अर्थ को प्रकाश करेगा इंद्रिय भी उसमें गुण गौण रूप से है साथ में टीका में दिया कर्ण गुणवत्ते का अर्थ क्या कर्णम वागींद्रियम वागी वागींद्र वाग इंद्रिय वागींद्रियम गुणः यस्या गुण का उपसर्जनम सा कर्ण गुणवती वागे करण वाग इंद्रिय उपसर्जन जिस वाणी में वो वाणी करण गुणवती करण गुणवत्या वाचा वाणी के द्वारा अभ्युदित अन, अनभ्युदितम का अर्थ अप्रकाशितम प्रकाश नहीं होता है वाणी के द्वारा शब्द के द्वारा अर्थ का तो प्रकाश होता है ब्रह्म का प्रकाश नहीं होता है अर्थ का प्रकाश होता है का अर्थ अंधकार में घट घट कितने बार उच्चारण करेंगे तो प्रकाश हो जाएगा आलोक हो जाएगा तो प्रकाश का अर्थ ज्ञान शब्द सुनने से अर्थ का ज्ञान होता है शब्द सुनने पर घट घट कहेंगे अंधकार में अर्थ का ज्ञान होगा शब्द से अर्थ का ज्ञान हो जाता है शब्द बोध होता है प्रत्यक्ष देखने के लिए प्रकाश आलोक की आवश्यकता है शब्द से अर्थ का बोध होता है वो बोध ज्ञान को प्रकाश शब्द से कहते हैं शब्द अर्थों को प्रकाश करता है मतलब ज्ञान कराता है ज्ञान जनक होता है शब्द तो वाचा अनभिदितम अप्रकाशितम शब्द जिसको प्रकाश नहीं कर पाता है और येन बाग अभ्युदते येन ब्रह्मणा जो ब्रह्म के द्वारा ही शब्द प्रयोग किया जाता है शब्द अर्थों को प्रकाश करता है शब्द स्वयं प्रकाशित है ये न ब्रह्मणा ये विवक्षित अर्थे सकरण वाग अभिदते वाग शब्द इंद्र के साथ उच्चारण किया जाता है प्रयोग किया जाता है ये न ये न के न चैतन्य ज्योतिषा वाग प्रकाश्यते शब्द प्रकाशित होता है शब्द का भी प्रकाशक शब्द उच्चारण किया जाता है अर्थ को कहने के लिए जिस ब्रह्म से प्रकाशित होकर के ये प्रकाश्यते का था प्रयुज्यते उच्चारण किया जाता है तद ब्रह्म तो ब्रह्म के द्वारा शब्द उच्चारण किया जाता है शब्द में अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य है वो ब्रह्म का ही सामर्थ्य है ब्रह्म संबंध से ब्रह्म से प्रकाशित होने पर ही शब्द अर्थ ज्ञान कराएगा शब्द का भी प्रकाशक है शब्द में जो सामर्थ्य है और ब्रह्म के कारण इसमें प्रमाण देते हैं यद वाचो हवाग इतुक्तम वाचो हवाग वाग के भी वाग वाग च वाग कौन से वाग में जो सामर्थ्य जो है वे वही ब्रह्म है इतुक्तम वदन वाक वही शब्द उच्चारण करते समय वाक हो गया वदन वाक बोलते हुए यो वाचम अंतर्यमयत इत्यादि ते वाच सन्नयके यो वाचम अंतर्यम इति सबके अंदर रह करके नियमन करता है अंतर्यामी वाणी को भी नियमन करता है अंत सबके अंदर रह करके नियमन करता है वो ब्रह्म है या वाग पुरुषेषु सा घोषेषु प्रतिष्ठिता कश्चितां वेद ब्राह्मण इति प्रश्न उत्पाद्य प्रतिवचन उक्तम सा वाग या स्वप्ने भासते इति या वाक् पुरुषेषु सा घोषेषु पुरुष में जो वाक है सा वाक घोषेषु घोषित शब्द वर्ण में वर्ण में प्रतिष्ठित हुई वाक जो पुरुष में है पुरुष में कौन वाक है टीका में पुरुषेषु चेतनेषु या चेतनेषु या वाक शक्ति पुरुष में तो चेतन चेतन में जो वाक शक्ति है सा घोषेषु वर्णेषु प्रतिष्ठिता वही वर्ण में प्रतिष्ठित है वर्ण में कैसे प्रतिष्ठित है पुरुष से में शक्ति है गोश्रेष्ठ प्रतिष्ठिता इसलिए तद व्यंग्यत्वादि अर्थ वही शब्द के द्वारा प्रकाशित होने से तद व्यंग्यत्वाद और वो ब्रह्म के द्वारा शब्द प्रकाशित है वही चित शक्ति शब्द में प्रकाशक रूप से है शब्द को प्रकाश करने वाली है चित शक्ति या वाक् पुरुष से सुसा प्रतिष्ठिता कश्चिताम वेद कोई उस वाक को जानता है जो चित्त शक्ति रूप वाक शब्द का भी जो प्रकाशक है ऐसे प्रश्न आरंभ करके प्रश्न उत्पाद्य प्रतिवचनम उत्तर प्रतिवचन उत्तर कहा गया सा वाग यया स्वप्ने भासते वाक तो ही है जो सपने में जिससे बोलता है स्वप्न अवस्था में बाह्य जो शब्द वाग इंद्र काम नहीं करती है स्वप्न अवस्था में सूर्य चंद्र आदि का प्रकाश नहीं दिखता है आंखें बंद है उस समय लगता है सूर्य प्रकाश चंद्र प्रकाश दिखता है बोलता है देखता है ये सब बोलना देखना आदि सपने में नहीं है सपने में जो सूर्य चंद्र आदि दिखता है वो प्रातिभाषिक है जो व्यवहार काल में सूर्य चंद्र वो नहीं है तो सपने में शब्द प्रयोग भी करता है देखता भी है सब चैतन्य प्रकाश से ही सब व्यवहार करता स्वप्न में चैतन्य प्रकाश है अन्य बाह्य प्रकाश के बिना भी व्यवहार करता है उस समय लगता है सूर्य चंद्र आदि हो है करके वस्तुतः नहीं है जो बाह्य है उसके साथ कोई संबंध नहीं स्वप्न प्रपंच का आंख बंद कर स्वप्न दिखता है तो अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति पुरुष स्वयं प्रकाश है इसको बताने के लिए श्रुति में भी स्वप्न अवस्था का प्रारंभ करके बताया बाह्य प्रकाश नहीं होने पर भी जो व्यवहार करता है देखता है चलना फिरना करता है वही है स्वयं प्रकाश ब्रह्म उसी को प्रकाश स्वप्न प्रपंच को प्रकाश करने वाला ही ब्रह्म है जिस प्रकार प्रकाश है ब्रह्म स्वयं प्रकाश ही है इसी प्रकार जो शब्द उच्चारण करता है वाग भी वो भी सपने में जो कहता है वही शुद्ध चेतन ही है उससे अतिरिक्त तो कोई भाग है ही नहीं लगता है प्रातिभाषिक उसको प्रकाश करने वाला ब्रह्म यया स्वप्ने भासते जिस वाणी के द्वारा सपने में बोलता है उसको कहते वाक वो वाक शब्द से कहा गया प्रकाशक चिद रूप स्वयं प्रकाश साहि वक्तुर व्यक्तिर नित्या वाग चैतन्य ज्योति स्वरूपा वह जो वक्ति है प्रकाश चित शक्ति वो नित्य है साहि वक्तुर वक्ता है पुरुष कहने वाला किंतु कहने वाला पुरुष की जो वक्ति है वाक शक्ति वाक है वो नित्य है वही नित्य वाक है जो सपने में बोलता है सपने बोलता जैसे लगता है बोलता नहीं वही प्रकाश है जो सपने में प्रकाश स्वयं प्रकाश है सपना प्रपंच को प्रकाश करने वाला जो प्रकाश है सपनों को देखने वाला बुद्धि को भी देखने वाला सपनों को देखने वाला क्या है कौन है इसको समझने के लिए जागृत अवस्था में जो बुद्धि को प्रकाश करता है वही स्वप्न दिखता है आप अपने बुद्धि को जानते हो क्या बुद्धि को आप जानते हो जानने वाला कौन है ये शरीर है चक्षुरादि इंद्रिय है या हाथ से हाथ से जानते हैं किस किस इंद्रिय से बुद्धि को जानने के लिए कौन से इंद्रिय है घ्राण इंद्रिय है रसन इंद्र है त्वग इंद्र है कौन से इंद्र है वो स्वयं तत्राहम अतो भवान परमकम ज्योति बुद्धि को प्रकाश करने वाला स्वयं मैं हूँ एक श्लोक में आया ना बुद्धि है तो बुद्धि वो दर्शन किम बुद्धि को देखने के लिए क्या है शिष्य उत्तर देता है तत्राहम वही बुद्धि को देखने के मैं हूँ बुद्धि से सब का प्रकाश होता है बुद्धि को प्रकाश करने वाला आप इसलिए आप ततो भगवान कम ज्योति इसलिए आप परम ज्योति है एक श्लोक में आचार्य भगवतपाद ने श्लोक एक श्लोक में एक श्लोक में गुरु शिष्य के संवाद रूप से प्रश्न उत्तर करके उपदेश किया गया ब्रह्म का याद है ना एक श्लोक ही बोलो किं ज्योतिष इसमें गुरु जी के अंतिम प्रश्न कौन सा है किम धियो दर्शन धियो दर्शन किम बुद्धि को देखने के लिए क्या प्रकाश है और उत्तर क्या शिष्य का हैं तत्रा हम बुद्धि को देखने के मैं ही हूँ तो आगे कहते अतो भवान परमकम ज्योति आप परम ज्योति हो बुद्धि को जानने वाला आप है वही स्वप्न को जानता है प्रातिभासिक वस्तु को भी रज्जु सर्प को जानने वाला साक्षी है वही वाणी को भी प्रकाश करता है जो स्वप्न में जिससे प्रकाश जिस प्रकार से प्रकाशित होता है सपनों को देखता है जिसे वाणी से स्वप्न में बोलता है वही वाक है नित्य है साई वक्तुर वक्ति है वाक है वाक चैतन्य ज्योति सर्पायु वाक चैतन्य ज्योति है चैतन्य से उसको ज्योति भी कह दिया वाग भी कह दिया वो ज्योति आलोक नहीं है ना वाग शब्द है स्वप्न अवस्था में जो प्रकाश से देखता है वो चैतन्य रूप प्रकाश है और वही वाक है नित्य वो वाक रूप क्या है चैतन्य रूप वाक है शब्द रूप वाक नहीं नहीं वक्तुर वक्तरि विपरलोप विद्यते इति श्रुते है वक्ता की भक्ति स्वरूप भक्ति का विपर्लोप नाश नहीं होता है जिस प्रकार दृष्टि दो प्रकार है दृष्टा के की दृष्टि है अनित ज्ञान और घट ज्ञान पट ज्ञान रूप दृष्टि रस दृष्टि रूप रसादि ज्ञान अनित है और स्वरूपभूत ज्ञान नित्य है जागृत अवस्था में रूप रस का ज्ञान होता है स्वप्न अवस्था में विषय का ज्ञान होता है सुषुप्ति अवस्था में ये वृत्ति ज्ञान नहीं है किंतु नित्य ज्ञान है सुश्रुति अवस्था में इंद्रिय के द्वारा विषय ग्रहण होता है स्वप्न अवस्था में स्वप्न अवस्था में नहीं होता है लगता है होता करके इसी प्रकार वास्तव विशेष ग्रहण विशेष ज्ञान जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में दोनों में है सुषुप्ति अवस्था में विशेष ज्ञान विशेष ग्रहण का अभाव किंतु आवरण रूप अज्ञान जागृत सपन सुषुप्ति तीनों में बराबर है यही सुषुप्ति और समाधि में भेद है ज्ञान हो गया तो समाधि में आवरण निवृत्त हो गया किंतु सुषुप्ति अवस्था में आवरण होता है तब जगना पड़ता है ज्ञान हो जाने के बाद फिर जन्म मरण को प्राप्त नहीं करेगा ज्ञान नष्ट हो गया और में यदि ज्ञान नष्ट हो जाएगा आगे जगेगा नहीं मुक्त हो जाएगा सबसे अच्छा यदि अज्ञान नहीं रहे सुश्रुति तो में आगे फिर जागृत अवस्था में नहीं आएगा मुक्त हो जाएगा अज्ञान रहता है आवरण तो रहता है विक्षेप नहीं रहता विशेष ज्ञान नहीं रहता है तो विशेष ज्ञान जो नहीं रहता है वो वृत्ति ज्ञान का अभाव हुआ किंतु जो नित्य ज्ञान है वो रहता है सुश्रुति अवस्था में नहीं दृष्टो दृष्टेर विपरलोप विद्यते दृष्टा की जो दृष्टि है स्वरूपभूत दृष्टि नित्य ज्ञान उसका नाश नहीं होता है ठीक इसी प्रकार नहीं वक्तुर वक्तर विपरलोप विद्यते वक्ता है जीव वाग इंद्र वाला अंतकण विशिष्ट चेतन उसके जो वक्ति स्वरूपभूत वक्ति है वाक उसका विपरलोप विनाश नहीं होता विनाश है तदेव स्वरूपम ब्रह्म से भूमाख्यम बृहत्वाद ब्रह्मेति विद्धि विजानीत्वम तदेव तम ब्रह्म तदेव त्वं वृद्धि ब्रह्म तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि तदेव ब्रह्म तम विद्धि तदेव ब्रह्म तम विद्धि वही ब्रह्म है तदेव आत्मस्वरूपम तत कहन से अपने से भिन्न दूर में कोई परोक्ष तदिति परोक्ष भी जाने आता तत्सद से परोक्ष में कोई नहीं आत्मस्वरूप अपना स्वरूप ही जो आप सहे सर तदेव स्वरूपम ब्रह्म क्योंकि वही जो जिसके द्वारा सपने में बोलता है जो बुद्धि को प्रकाश करता है जिससे वाग मन प्राण आदि को प्रकाश कर जो करता है चैत प्रकाश चेतन वही ब्रह्म है तो अब आपकी बुद्धि को जानने वाले आप है आपसे बिना कोई चेतन है आप ही जानने वाले तदेव आत्मस्वरूपम ब्रह्म ब्रह्म शब्द का अर्थ निरतिशय भूमाख्यम बृहत्वाद ब्रह्मेति बृहत्वाद ब्रह्म व्रीहि वृद्धो धातु हि वर्धते वर्धयति वा प्रजाम इति ब्रह्म स्वयं वर्धते सबसे व्यापक वर्धयति सब को प्रकाश करता है स्वयं वर्धते अथवा सब को बढ़ाता है व्रीहि वृद्ध धातु से व्रीहेर नो अच्च क्या प्रत्यय होता है मानिन प्रत्यय होता है मानिन के अनुवृत्ति ब्रिंग धातु से मानिन प्रत्यय होगा मानिन का मन रहेगा नकार हलंतम इकार उच्चारण के लिए प्रत्यय में शेष क्या बचेगा मन ब्रिंग से आगे मन आ जाएगा और सूत्र क्या करता अच्च नकार ब्रिंग ही उपधा में न है उपधा में जो न उस न को अ आदेश कर देगा न को अ हो जाएगा ब्रिंग ही व्री के आगे अनुसार है न है उसको अ हो गया व्री के आगे अ आ जाएगा तो संधि सूत्र क्या लगेगा ये कौन जी री के आगे अ हो जाए तो र हो गया धातु गया ब्रह धातु बिरिंग ही था क्या बन गया ब्रह उपधा में न कहा गया न क हो गया और ब्री धातु में री कहां गया यौन हो गया ब्रह बन गया तो आगे प्रत्यय क्या है ब्राह्मण ब्राह्मण है प्रातिपदिक ब्राह्मण का पुल्लिंग रूप बनाएंगे तो ब्रह्मा ब्रह्माणो ब्रह्माण ये बनेगा नपुंसक बनाएंगे तो ब्रह्मा ब्रह्मणी ब्रह्माणी ये बनेगा ये ब्रह्म है बृहत्वाद ब्रह्म सबसे व्यापक और जो निरतिशयम नास्ति अतिशय स्मात न विद्यत अतिशय स्मात उससे बढ़कर कोई अधिक नहीं है भूमाख्यम भूमा आख्याय श्री नाम जिसका भूमा है भूमा है बहुत्वम भूमा शब्द का क्या अर्थ है बहुत्वम भूमा शब्द कैसे बनेगा बहोर लोप भूच बहु बहु से त्व पहले पृथ्वादिभो इमनिचिवा इमनिच प्रत्यय होगा भू बहु से इमनिच बहुत्व के अर्थ में बहु शब्द से क्या प्रत्यय हुआ इमनिच प्रत्यय के ई को लोप करने के सूत्र बहुर लोप बहु पंचमें तो बहु से पर का लोप आधे पर से इमनिच का आदि कौन है ई को लोप हो जाएगा तो क्या प्रत्यय रहेगा मन इमन चिम इमन ई को लोप हो गया मन बच गया प्रकृति क्या है बहु अगरे प्रत्यय का क्या रहा मन इमनिचि ई का लोप हो गया और भू च बहु बहु शब्द को भू आदेश हो जाएगा बहु शब्द के स्थान पर क्या आदेश होगा भू प्रकृति क्या है भू प्रकृति क्या है अप्रत्यय प्रत्यय क्या है क्या प्रतिपदी हो जाएगा भूमन भूमन शब्द का प्रथमांत भूमा पुल्लिंग में भूमा भूमानो भूमा भूमन का भूमा भूमा है बहुत्वम सबसे निजति से भूमाख्यम ब्रह्म भूमाख्यम बृहतात ब्रह्म इति विधि उसको ब्रह्म समझो जो शब्द को भी प्रकाश करता है चक्षुरादि इंद्र का भी प्रकाशक है जो इंद्र के द्वारा प्रकाशित नहीं बल्कि इंद्र का प्रकाशक है उसको ब्रह्म समझो विधि का क्या है तो विधि विज्ञान ही जानो क्या धातु तो विधि में विद ज्ञान ही तदेव ब्रह्मतम विद्धि विजानीतम टीका में तदेव इति एवकार से कृतम तदेव ब्रह्मतम तदेव उसको ही ब्रह्म समझो उसको ही एवकार देंगे तो अन्य को नहीं लेना अन्य की व्यावृत्ति करने के तदेव तदेव आनय उसको ही लाओ दूसरे को नहीं येर वागादि उपाधिवीर वाजो हवाक चक्षु से चक्षु श्रोत्र से श्रोत्र मन से मन कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियंता प्रशासिता विज्ञान आनंदम ब्रह्म इतेव मादयः संव्यवहारा असंव्यवहार्य निर्विशेषे परे साम्य ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते तान विदस्य आत्मानमेव निर्विशेष ब्रह्म विद्धि इत्येव एव शब्दार्थ एव शब्द का अर्थ कहते हैं यही उपाधि भी जिन वाग आदि उपाधियों के द्वारा वाग आदि उपाधि भी प्रवर्तनते व्यवहार होते हैं वाग आदि उपाधि के द्वारा शब्द व्यवहार आदि होता है वाचो वाक वाणी का भी वाणी वाणी की वाणी चक्षु के चक्षु श्रोत्र का श्रोत मन का मन ऐसे कहा गया वो शुद्ध चेतन ब्रह्म को वाग आदि उपाधि के द्वारा वाक चक्षु सूत्र मन भी कह दिया और कर्ता कहा जाता है उपाधि को लेकर करता है शुद्ध चेतन में भोक्ता विज्ञाता ज्ञान जानने वाला नियमन करने वाला नियंता शासन करने वाला प्रशासकता और आगे कहा गया वही शुद्ध ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म सब कहा जाता है यद्यपि अव्यवहार्य ब्रह्म शब्द का विषय नहीं ज्ञान का विषय नहीं तो भी उपाधि को लेकर के व्यवहार किया जाता है शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं इंद्र का विषय नहीं है तो भी शब्द प्रयोग किया जाता है शुद्ध ब्रह्म को श्रुति में उपाधि को लेकर के इसलिए तत्वमसि में तत्पद का अर्थ माया उपाहित चेतन उपाधि विशेष चेतन को तत्शब्द से कहेंगे ईश्वर तो हम भी उपहित है अंतगुण उपहित किंतु दोनों में परस्पर विरोध होने के कारण एक सर्वज्ञ एक अल्पज्ञ एक नहीं हो सकता है श्रुति एकत्व का उपदेश करती है इसलिए श्रुति प्रमाण होने के कारण वाच्यार्थ को लेने से विरोध होता है तो लक्ष्यार्थ लेना चाहिए लोक में वाच्यार्थ लेने से विरोध होता है तो लक्ष्यार्थ लेते हैं लक्ष्यार्थ लेकर के यहाँ भी तत्पद का लक्ष्यार्थ शुद्ध ब्रह्म त्वम पति का ही शुद्ध चैतन्य वही ब्रह्म एक है तो ये वाग आदि उपाधि को लेकर के शब्द प्रयोग किया जाता है वाक वाचो वा कहा गया चक्षुष चक्षु श्रोत्र का श्रोत्र मन का मन ये सब जो कहा गया वाक चक्षु श्रोत्र मन उपाधि को लेकर कहा गया वही कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियंता प्रशासिता विज्ञान ये भी कहा गया वही कर्ता है भोक्ता है ब्रह्म सूत्र कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् तो जीव ही करता है तब शास्त्र सार्थक होगा यजे यजेत तो स्वर्ग काम याग करे तो जो याग करेगा स्वर्ग प्राप्त करेगा तो जीव ही जीव शब्द से वाच्यात लेना अत्यंत वास्तव कर्तृत्व तो नहीं है इसलिए आगे यथा च तक्षा हुए था कह करके और उपाधि उपाधि के कारण ही उसको कर्ता होता कहा गया शुद्ध चेतन कर्ता नहीं है उपाधि के कारण कर्ता शब्द का प्रयोग किया गया भोक्ता भी कहा गया विज्ञाता नियंता भी प्रशासन करने वाला और उसी को श्रुति में कहते वही सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म विज्ञान आनंद ब्रह्म ये शब्दों का भी प्रयोग वस्तुतः ब्रह्म में नहीं होगा किसी भी शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त ब्रह्म में नहीं है शब्द प्रवृत्ति शब्द प्रयोग प्रयोग किया जाता है शब्द का उच्चारण उच्चारण किया जाता है अर्थों को बताने के लिए किंतु उस अर्थों को बताया गया शब्द जिस अर्थ में शब्द प्रवृत्ति का निमित्त हो शब्द प्रयोग करेंगे तो अर्थों को बताएगा घट शब्द कहेंगे तो पट अर्थ का ज्ञान हो जाता है पट कहेंगे तो घट अर्थ का ज्ञान होगा घट शब्द प्रवृत्ति का निमित्त होता है घटत्व घटत्व घट में है जहां शब्द प्रवृत्ति निमित्त है वहीं घट शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो अर्थ का ज्ञान होगा और पानी लेकर कोई कहेगा पानी को घट कहेगा तो घट शब्द से पानी का बोध हो जाएगा नहीं होगा क्योंकि पानी में घट शब्द प्रवृत्ति निमित्त घटत्व तो नहीं है इसी प्रकार जाति गुण क्रिया संबंध को लेकर के शब्द प्रयोग किया जाता है गोत्व तो जाति है तो गो शब्द से घटत्व तो जाते तो घट ये कहा जाता है ब्राह्मण तो जाति तो ब्राह्मण ये कहा गया जाति को लेकर के गुण को लेकर शब्द प्रयोग होता नील मधुरम ये सब क्या सुगंध सुगंधी उत्पलम सुगंध वाला है नील रूप वाला मधुर है ये सब गुणों को लेकर शब्द प्रयोग होता है क्रिया को लेकर भी शब्द प्रयोग होता है पाचक भोजन पकाता है तो पाचक लावक पाठक ये सब प्रयोग किया जाता है और संबंध को लेकर दंडी कुंडली ब्रह्म में ना कोई जाति है ना कोई गुण है ना कोई क्रिया है ना कोई संबंध है इसे किसी भी शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती है तो भी सत्यम ज्ञानम अनंतम भव विज्ञान अनंतम ब्रह्म श्रुति कैसे कहती इसलिए कहा गया यही उपाधि ही उपाधियों से ही शब्द प्रयोग किया जाता है उपाधि विशिष्ट लेकर शब्द प्रयोग शब्द का वाच्यार्थ सोपाधि का होता है शुद्ध नहीं होता है शुद्ध का ज्ञान तो लक्षण करके होता है इसलिए यही रिवा उपाधि भी वागादि उपाधि भी जिन वागादि उपाधि के द्वारा ये सत्यम ज्ञान अनंत तो विज्ञान आनंद ब्रह्म ये भी कहा जाता है श्रुति में उपाधि के द्वारा उपाधि के बिना से निरुपाधि के में कोई शब्द प्रयोग नहीं होगा इतम मादे संव्यवहारा व्यवहार शब्द प्रयोग है कर्ता भोक्ता चक्षु सत्र आदि जो किया जाता है किस में किया जाता है ब्रह्म में उपाधि के द्वारा ब्रह्म व्यवहार्य है नहीं असम व्यवहार्य असम व्यवहार्य निर्विशेषे परे साम्य ब्रह्मणि परसाम एक अद्वितीय तत्व है निरतिश है निर्विशेष है असम व्यवहार्य ना ज्ञान का विषय ना शब्द का विषय इंद्र का विषय नहीं है तो भी शब्द प्रवृत्त होते हैं शब्द कहा जाता है उच्चारण किया जाता है किसके द्वारा यही बाघादि उपाधि भी वाघ चक्षुषत आदि उपाधि के द्वारा ही ब्रह्म को कहा जाता है ब्रह्म प्रवृत्त होते हैं जिन उपाधि के द्वारा शब्द प्रयोग किया जाता है तान विदस्य विदस्य उनका निराकरण करके वाघ आदि उपाधि का निषेध कर देंगे तो फिर क्या रहेगा जिनके द्वारा उच्चारण किया जाता है वो शब्द उपाधि को सब निराकरण कर दिया तो उस सब उपाधि का प्रकाशक ब्रह्म आत्मा रहा आत्मानमेव निर्विशेषम ब्रह्म विद्धि उपाधि को सब निराकरण कर दिया आपसे भिन्न सब कोई उपाधि हो सकती है सब का निषेध करने पर आप सब को निषेध करो अपना आप निषेध कर सकता कोई अपने आप का नहीं निषेध कर अपने से भिन्न का सब निषेध कर देगा अपने भिन्न सब निषेध करें तो क्या रहेगा कोई रहेगा निषेध करने वाला आत्मा वही आत्मा ब्रह्म है आत्मानमेव निर्विशेषम ब्रह्म विद्धि तदेव तम ब्रह्म विद्धि कहते तद शून्य से परोक्ष तदिति परोक्ष विज्ञान तत कहीं तो ऊपर कहीं ब्रह्म है वो बहुत दूर में ये नहीं तत्शब्द से परोक्ष नहीं लेना वही है जो बुद्धि का साक्षी जे आदि उपाधि के द्वारा जो जिसके लिए कहा जाता है दो आदि उपाधि का निराकरण करने पर जिसका निराकरण नहीं हो सकता है सबके निषेध का साक्षी सब के अभाव का अधिष्ठान वही ब्रह्म है निर्विशेष ब्रह्म विद्धि जानो इतेव शब्दार्थ एव शब्द का अर्थ उपाधि को छोड़ करके शुद्ध वही ब्रह्म सारे निषेध का अधिष्ठान साक्षी को ही ब्रह्म समझो तदेव तम ब्रह्म विद्धि तदेव इति एवकार से कृत्य महा एवकार का फल बताया प्रकार का कार्य वागादि उपाधि का निराकरण करके जो आत्मा है उसको ही ब्रह्म समझो तदेव ब्रह्मत्व विधि कह करके आगे फिर श्रुति कहती नेदम यदि न उपासते वागादि उपाधि के द्वारा ही जिस ब्रह्म का ब्रह्म को इस सब शब्दों से अव्यवहार्य निर्विशेष ब्रह्म में सब शब्द व्यवहार किया जाता है कहा जाता है जो वागादियों का भी प्रकाशक है इस चक्षु में दर्शन सामर्थ्य है श्रवण इंद्रिय में श्रवण सामर्थ्य है ये सब सामर्थ्य जिसका हेतु जिसके कारण इसमें सामर्थ्य हो जैसे अग्नि के कारण जल में दग्धृत्व आ जाता है वास्तव दग्धित्व दग्धृत्व अग्नि में जल में नहीं है इसी प्रकार वास्तव ज्ञान तो शुद्ध ब्रह्म है जिसके संबंध से वृत्ति को भी ज्ञान कहते हैं वास्तव वाक ब्रह्म है जिसके संबंध से इंद्रिय को शब्द को विवाह कह देते हैं इसी प्रकार सब का साक्षी एक चेतन ब्रह्म वही आत्मा उसको ही ब्रह्म समझो तदेव ब्रह्म यदिदमिति उपाधि वेद विशिष्ट विशिष्टम अनात्मा इतर ईश्वरादि उपासते ध्यायन्ति हाँ। तद नेदम ब्रह्म अच्छा नेदम ब्रह्म आगे ठीक है हमें नेदम ब्रह्म इदम ब्रह्म न तदेव ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म समझो न इदम ब्रह्म इदम यद इदम इति उपाधि भेद इदम इदम तेन जिसकी उपासना करते इदम अपने से भिन्न है इदम तेन जो इसकी उपाधि कर उपाधि भेद से इदम इति उपाधि भेद विशिष्टम उपाधि भेद विशिष्टम उपाधि भेद युक्त और के रूप जिसकी उपासना करते हैं उपहित रूप को उपाधि युक्त होकर युक्त उपाधि भेद विशिष्टम उपाधि भेद से विशिष्ट होकर के वही उपाधि युक्त हो जाने से वही अनात्मा हो गया आत्मा से भिन्न हो गया अनात्मा न आत्मा अनात्मा आत्मा से भिन्न अनात्मा वही ईश्वर है ईश्वर को इदं तेन मेरे से भिन्न औपाधिक रूप से भेद मान करके भेद वाले भिन्न उपासना करते हैं भेद विशिष्ट है भिन्न भेद चित्त भिन्न करके भिन्न बुद्धि से मेरे से भिन्न है भिन्न बुद्धि से जिसकी उपासना करते हैं ईश्वर को जो अन्य असो अन्य अहम अस्मिति न सवेद जो मानता है ईश्वर उपास्य मेरे से भिन्न है मैं उपासक उससे भिन्न हूँ वो श्रुति कहती न वेद ठीक नहीं जानता है यथा देव सपशु नाम है यथा पशु सदेवानम पशुओं के समान देवताओं के पशु के समान है अन्य असो मेरा उपास्य देव ईश्वर अलग मैं उपासक अन्य हूँ ऐसे बुद्धि जो करता है ठीक नहीं जानता ज्ञानी है वही ब्रह्म सब का भाग आदि का साक्षी सब का प्रवर्तक प्रारंभ क्या था किससे के निश्चित किससे प्रवृत्त होकर के ये बाघ आदि प्रेरित हो करके उच्चारण शब्द उच्चारण करते बाघ इंद्रिय किससे प्रेरित हो करके कौन प्रेरक है इंद्र का प्रेरक कौन है इंद्र का प्रेरक अपने स्वरूप आत्मा कहा वही ब्रह्म तदेव ब्रह्म विधि जो इंद्र का प्रेरक बुद्धि का साक्षी है वही ब्रह्म समझो निर्विशेष ब्रह्म नेदम इदम तेन जिसकी उपासना करते होते तो नहीं है अनात्म ईश्वर आदि उपासते ध्यायते अनात्मा ईश्वर आदि की उपासना करता है अपने से भिन्न अनात्मा का था अपने से भिन्न अपना स्वरूप आत्मा है आत्मा से भिन्न ईश्वर ईश्वर को भिन्न दृष्टि से उपासना करते हैं उसको ब्रह्म नहीं समझो तदेव ब्रह्म तम विद्धि तुक्ते भी टीका में नहीं बात में तदेव ब्रह्म तम विद्धि उक्ते भी तदेव ब्रह्म उसी को ही ब्रह्म समझो तद एव ब्रह्म कौन से अन्य को नहीं है अर्थ से आ जाता है फिर कहते नेदम ब्रह्म तदेव ब्रह्म विधि नेदम तदेव ब्रह्म समझो उसको ही समझो दूसरे को नहीं अर्थ से आ जाते उसको ही कहेंगे तो अन्य को नहीं उसको ही तदेव ब्रह्म तो विधि तो व्रत करते हैं केवल दूध पीकर हम रहेंगे केवल दूध पीकर रहेंगे तो दूध के साथ और क्या खाना है कहते केवल दूध पिए और कुछ नहीं खाएंगे केवल दूध पिएंगे कहेंगे तो और कुछ खाने का प्राप्त है क्या केवल दूध पिएंगे तो और कुछ नहीं लेंगे आज केवल दूध पी करेंगे फिर जोर करते और कुछ नहीं लेंगे ओ यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव बतत गीता में कहा यज्ञ दान तप का त्याग नहीं करना चाहिए त्याग नहीं करना चाहिए मतलब करना चाहिए न त्याज्यम कह कर फिर कहते कार्य में वो करना ही चाहिए इसमें दो बार कहने से अधिक जोर होता है केवल दूध पीकर रहेंगे और कुछ नहीं खाएंगे केवल दूध पीकर रहेंगे का अर्थ आ जाते कुछ नहीं खाएंगे फिर कहेंगे कुछ नहीं खाएंगे तो अधिक जोर होता है इसी प्रकार यहाँ तदेव तम ब्रह्म विधि उसको ही तुम ब्रह्म समझो अर्थ उससे बिना को ब्रह्म समझना नहीं फिर कहते नेदम ब्रह्म इदम न इदंत्वेन भिन्न बुद्धि जिसको करते हो ब्रह्म नहीं है फिर जोर करते हैं भेद में भिन्न में कहीं ब्रह्म बुद्धि कभी प्राप्त हो उसका निषेध करते हैं तो ये तदेव ब्रह्म तो विधि उगते भी ऐसा कहने पर भी अर्थ से आ जाते उनको नहीं समझो फिर भी श्रुति कहती नेदम ब्रह्म इति क्यों कहती अनात्मनो अब्रह्मत्व पुनरुच्यते आत्मा से बिना ब्रह्म नहीं है आत्मा को ही ब्रह्म समझो अनात्मा को अनात्मा ब्रह्म है नहीं आत्मा को ही ब्रह्म समझो एव तदेव आत्मानमेव ब्रह्म तो अनात्मा नहीं है फिर कह कर इदम न तो आत्मा से भिन्न जो इदम बुद्धि वो ब्रह्म नहीं है ठीक है मैं अच्छा कि अने भाष्य में पहले अब्रह्म तो पुनरुच्यते पहले तदेव ब्रह्म कह करके आत्मा को ब्रह्म कह करके श्री कहते नेदम ब्रह्म इदम तेन अनात्म को जो ब्रह्म बुद्धि करते हो नहीं ब्रह्म नहीं है क्यों कहते हैं दोबारा नियमार्थम अन्य ब्रह्म बुद्धि परिसंख्यानार्थम वा नियमार्थम विद्धिर अत्यंतम अप्राप्तो नियमः पाक्षिके सति तत्र च अन्यत्र च प्राप्तो परिसंकेति गीयते मीमांसा में विचार करते हैं विधि अत्यंत अप्राप्तो अत्यंत अप्राप्त होने पर विधि है यजेत सर्ग काम विधि अत्यंत अप्राप्तो जहाँ प्राप्त नहीं वहाँ विधान करते हैं एको यणच विधि है एक स्थान पर यण हो अच पर हो तो विधि सूत्र है अत्यंत प्राप्त अन्यम अनियम पाक्षी के सति एक पक्ष में प्राप्त हो तो नियम है एक पक्ष में प्राप्त है तो सिद्ध सत्य आरंभ हो नियमार्थ पति एव पति शब्द की घी संज्ञा प्राप्त थी किस सूत्र से शेषोज्ञ से किस प्राप्त होने पर फिर कहते पति समास समास कौन से समास में ही घी संज्ञा समास नहीं तो केवल पति शब्द की घी संज्ञा नहीं होती है ये पति समास एवं सूत्र नहीं होता तो हरि शब्द के समान पति शब्द की भी घी संज्ञा हो जाती हो जाती तो हरय बनता है चतुर्थी में बनता है पति का क्या बनता है हैं पतय बनता है घेर गीत से गुण हुआ यहाँ भी पति शब्द को क्या हुआ नहीं घेर गीत से गुण हुआ ना हाँ। घी संज्ञान से गुण हुआ अब पति शब्द का तो गुण हुआ तो क्या बना हाँ हाँ पति पति ना हरिणा बनता है पति का क्या बनता है अंगुना स्त्रियाम अंगुना तो अलग हो गया किंतु घे घी संज्ञा का कार्य घेर गीति गुण घेर गीति से गुण हुआ पति शब्द का नहीं होगा तो पति ना नहीं बनता भूपति ना तो बनेगा पत्या बनता है तो पति शब्द की घी संज्ञा नहीं होती नियम पाची के सती एक पक्ष में होने से नियम करते हैं और तत्र च अन्यत्र च प्राप्त परिसंख्या वह प्राप्त दूसरे में प्राप्त है तो परिसंख्या जो परिसंख्या है अन्य निषेध में तात्पर्य है मीमांस में जो परिसंख्या है व्याकरण में नियम शब्द से उसको व्यवहार करते हैं मीमांस में परिसंख्या है अन्य निषेध करने में तात्पर्य है तो यहाँ व्याकरण में नियम करते नियम करते अन्यत्र नहीं है समास में ही पति शब्द की की संज्ञा अन्यत्र नहीं है ये नियम करता है इसी प्रकार यहाँ कैसा है विधि अत्यंत अत्यंत अप्राप्त अत्यंत अप्राप्त विधान है नियम पाक्षी के सती तदेव ब्रह्म कहने पर कवि तदेव ब्रह्म वही ब्रह्म है जो आत्मा ही ब्रह्म है अब वाक्यार्थ टिप्पणी में दे दिया वाक्यार्थ विस्मरण वेलायाम वाक्यार्थ विस्मरण होगा पहले संस्कार है संस्कार अधिकोन से क्या है देहादि में ब्रह्म बुद्धि हो जाती है मैं आत्मा ही ब्रह्म किंतु देहादि में आत्म तो बुद्धि हो जाती है बुद्धि का साक्षी आप है सुनते हैं तो देह में अहम बुद्धि कभी होती है हैं हां अहम देह में अहम बुद्धि जो तदेव ब्रह्म कहन से क्या नियम पाक्ष के सती एक पक्ष में तो शास्त्र सुनते समय बुद्धि का साक्षी मैं हूं और थोड़ी देर में अहम मनुष्य मैं स्थूल हूं देह में हम बुद्धि एक पक्ष में प्राप्त एक पक्ष में प्राप्त नहीं हुआ वाक्यार्थ वाक्य को भूल गया वाक्यार्थ विस्मरण हो गया व्यवहार काल में देह में अहम बुद्धि होती है तो हां नियम करते हैं नियम पाक्षी के सती एक पक्ष में प्राप्त है तो नियमन करते हैं हमेशा ही बुद्धि करें बुद्धि के साक्षी में हूं देहादि हम बुद्धि नहीं प्राप्त होने पर इसी प्रकार यहाँ क्या तदेव ब्रह्म तो विद्धि उसको ही ब्रह्म समझो जो बाघ आदि का प्रकाशक नेदम ब्रह्म यदि तो उपासते कभी-कभी जो उपास्य में ब्रह्म बुद्धि उसको निराकरण करते नहीं उसमें नहीं है अन्य को जैसे आत्मा मान करके उसका सेवन करते हैं तो उसमें अन्यत्र आत्मबुद्धि नहीं करने के लिए तदे ब्रह्म तो विद्धि नेदम यदिदम उपासते और टीका में नियमार्थम पक्षे अनात्मनपि ब्रह्मबुद्ध प्राप्तायाम आत्मेव ब्रह्म इति नियन्तु नियंतमित्यर्थम एक पक्ष में आत्मा तो बुद्धि आदि साक्षी ब्रह्म है और जो वाक्यार्थ विस्मरण हो जाता है व्यवहार करते हैं देहादि में ब्रह्म बुद्धि आत्म अपि ब्रह्म बुद्धि देहादि आत्मा है अनात्मा है देह इंद्रिय अनात्मा होने पर आत्म बुद्धि होते हम बुद्धि हो जाती है ये ब्रह्म बुद्धि प्राप्त होने पर आपने आत्मैव ब्रह्म इति बुद्धिम नियंतु आत्मा ही ब्रह्म ये नियमन करने के लिए ये नियम पाक्षी के और परिसंख्यार्थम आगे अन्यस्मिन उपास्ये या ब्रह्म बुद्धि अर्थम बा उपास्य में ब्रह्म बुद्धि की निवृत्ति के लिए टीका में टिप्पणी में दिया तत्र च अन्यत्र च प्राप्तो परिसंख्य दिए न्याय के अनुसार कहते तदेव ब्रह्म इति वाक्याद आत्मनि इव तदेव ब्रह्म में वाक्य से सुनकर आत्मा ब्रह्म प्राणो ब्रह्म मनो ब्रह्म आकाश ब्रह्म ये सुन करके प्राण में भी ब्रह्म बुद्धि मन में ब्रह्म बुद्धि आकाश में ब्रह्म बुद्धि प्राप्त है वाक्य से तत्र च अन्यत्र से प्राप्त हो बुद्धि आदि का तो ब्रह्म है और मन भी ब्रह्म है प्राण भी ब्रह्म है आकाश भी ब्रह्म तत्र च अन्यत्र से प्राप्त हो आत्मा में ब्रह्म बुद्धि प्राप्त है प्राण मन ब्रह्म आदि में भी ब्रह्म बुद्धि प्राप्त है इसकी उपासना करते हैं इसलिए वहाँ तत्र च अन्यत्र च प्राप्त परिसंख्या प्राण आकाश मन आदि ब्रह्म नहीं है वो तो प्रतीक है वास्तव ब्रह्म वही तुम हो तुम आत्मा ही ब्रह्म है जो बुद्धि को प्रकाश करता जानता है सब बुद्धि प्राण मन प्राण आदि का जो प्रकाशक वही ब्रह्म है एक हो गया नियम और एक परिसंख्या नियम हो गया पक्ष अनात्मा में भी ब्रह्म बुद्धि प्राप्त होने पर नियम करना कि ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म और वो तो एक पक्ष में और यहाँ परिसंख्या में क्या दोनों में प्राप्त है नियम क्या हुआ एक कभी आत्मा ब्रह्म चिंतन करता है कभी देहादि में ब्रह्म बुद्धि नियम पाक्षिक हुआ देहादि में जब ब्रह्म बुद्धि करता है वह नहीं देहादि में नहीं करना आत्मा में ही करना और परिसंख्या में क्या तत्र च अन्यत्र च प्राप्त हो वह भी ब्रह्म है जो बुद्धि का साक्षी वो भी ब्रह्म है अब प्राण भी ब्रह्म है क्योंकि श्रुति में कहा गया मनो ब्रह्म इति उपासित मन भी ब्रह्म है आकाश ब्रह्म इति आदेश आकाश भी ब्रह्म है तो तत्र च अन्यत्र से प्राप्त हो श्रुति प्रमाण है बुद्धि का साक्षी भी ब्रह्म है और मन भी ब्रह्म है आकाश भी ब्रह्म है दोनों सब ब्रह्मत्व प्राप्त होने पर उसको परिसंख्या कहते हैं अन्य को ब्रह्म नहीं समझना वो सब उपाधि है प्राण मन श्रुति तो है प्राण ब्रह्म मनो ब्रह्म आकाश ब्रह्म ये तो है किंतु ये सब उपासना के लिए उपा uh, प्रतीक कहेंगे उसमें ब्रह्म बुद्धि नहीं करना इसे श्रुति कहती तदेव ब्रह्मत्वम विधि जो बुद्धि का प्रकाश का साक्षी आप वही ब्रह्म है न इदम इदम तो यानी जिसकी उपासना करते भेद बुद्धि से जिसकी उपासना करते हैं आत्मा से भिन्न तो अनात्मा हो गया अब मेरे से भिन्न उपास्य इसी बुद्धि से जो उपासना करते हैं वो परिचिन्न हो गया भिन्न भेद जहाँ मानना वो वस्तु परिचिन्न हो गया ब्रह्म अपरिचिन्न है अनंतम ब्रह्म का अनंत का तो अपरिचिन्न यदि किसी से भिन्न हो गया वो वस्तु परिचिन्न हो गया एक वस्तु किसी से दूसरे वस्तु से भिन्न हो गया वो परिचिन्न हो गया तीन प्रकार परिच्छेद होता है देश परिच्छेद काल परिच्छेद वस्तु परिच्छेद एक देश में अन्य देश में नहीं है जो वस्तु उसको क्या कहेंगे देश परिच्छिन्न कहा जाएगा एक देश में अन्य देश में नहीं तो क्या कहा जाएगा वस्तु को देश परिच्छिन्न घट देश परिच्छिन्न है हां हिमालय पर्वत देश परिच्छिन्न है समुद्र देश परिच्छिन्न है हां बहुत बड़े समुद्र तो भी देश परिच्छिन्न सर्वत्र नहीं है अकाल परिच्छिन्न एक समय में है अन्य समय नहीं इसको क्या कहा जाएगा काल परिचन्न ये बहुत तो बड़े मकान ये काल परिचन्न है बनने के पहले था क्या नहीं था इसलिए काल परिचन्न है घट काल परिचन्न होगा हाँ ये सारा ये आकाश आदि सृष्टि पृथ्वी जलवायु हिमालय सब काल परिचन्न है और नया लोग मानते ब्रह्म परमात्मा को सब देश में व्यापक मानते हैं नित्य मानते हैं काल परिचन्न भी नहीं देश परिचन्न भी नहीं किंतु वस्तु परिचन्न मानते हैं आत्मा से भिन्न आकाश आकाश को भी मानते देश परिचन्न नहीं काल परिचन्न नहीं किंतु वस्तु परिचन्न मानते हैं आकाश से भिन्न पृथ्वी जल तेज ऐसे मानते हैं तो आकाश से भिन्न ब्रह्म मानते हैं किंतु श्रुति कहती ब्रह्म अनंत है कोई भी अंत नहीं देश से परिच्छेद नहीं काल से नहीं वस्तु से भी नहीं वस्तु परिच्छेद उसमें होता है जो एक से भिन्न हो अन्योन्य भाव का प्रतियोगी हो कोई ऐसी से भिन्न कोई पदार्थ हो तो वस्तु परिचन्न होगा ब्रह्म अनंत का तो अपरिचिन्न अपरिचिन्न में कितने परिच्छेद रहेगा कोई भी परिच्छेद नहीं तो वस्तु परिच्छेद भी नहीं रहेगा ब्रह्म में वस्तु परिच्छेद नहीं का अर्थ ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है ब्रह्म से बिना कुछ भी मान लिया तो ब्रह्म वस्तु परिचय हो जाएगा श्रुति विरोध होगा श्रुति कहते अनंतम ब्रह्म भिन्न कुछ भी नहीं तभी सर्वम कलविदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम ये वाक्य भी प्रमाण होता है ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं इसलिए इदम तो जो मेरे से भिन्न करके जो उसकी उपासना करते हैं तो वस्तु परिचय हो गया आपसे भिन्न है तो वस्तु परिचय और वस्तु परिचय हो तो ब्रह्म नहीं होगा इसलिए ब्रह्म नहीं है नहीं जिसकी उपासना करते वस्तु परिचन्न और ब्रह्म नहीं ब्रह्म शब्द का अर्थ अपरिचन्न ब्रही वृद्ध धातु से बनता है परिचय रहित है इसलिए भेद बुद्धि से जिसकी उपासना करते हो ब्रह्म नहीं है स्पष्ट श्रुति करती है तो ब्रह्म की उपासना कैसे करना है अहंग्र उपासना करनी चाहिए सबसे श्रेष्ठ अहम अस्मि परम ब्रह्म नित्यम शुद्धम अभिक्रियम चिद्रूपस्य नमे जन्म कुतो मृत्युर्जरामयो जब नहीं होता है तो व्यावहारिक कल्पित भेद लेकर की भी उपासना होती है किंतु जिस ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति है इसे भेद बुद्धि से अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी अज्ञान से भेद बुद्धि होती है तो भेद बुद्धि अज्ञान को नष्ट कर देगी नहीं अज्ञान का कार्य भेद बुद्धि अज्ञान भेद बुद्धि अज्ञानात्मक है वो अज्ञान का निवर्तक नहीं अज्ञान का निवर्तक कौन अभेद ज्ञान अहम अस्मि ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का निवर्तक कर्म उपासना सब व्यवहार अज्ञान अवस्था में होता है अज्ञान अवस्था में ये सब किया जाता है अंतकण शुद्धि के लिए उपासना भी होती है किंतु अभी ज्ञान जिस ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति इसका उपदेश शिष्य पूछता है ये वाघ आदि इंद्र का प्रेरक कौन है का श्रोत्र से श्रोतम चक्षु से क्यों बता दिया अब यहाँ ब्रह्म का उपदेश है वही ब्रह्म है जो बुद्धि आदि का प्रेरक वही ब्रह्म है और भिन्न बुद्धि से जिसकी उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है टीका में अन्यस्मिन उपास्य या ब्रह्म बुद्धि उपास्य में ब्रह्म बुद्धि अन्यस्मिन उपास्य या ब्रह्म बुद्धि निवृत्ति अर्थम वा पुनर्ब्रह्मत्व उच्यते उपास्य ब्रह्म नहीं है उपास्य में प्राण मन आदि में जो ब्रह्म बुद्धि होती है उसके निवृत्ति के लिए कहते न इदम यदि न उपासते